खा मिल जाए तो खुश रहें और अगर उस कदर न मिले तो झट खफा हो जाएं और अगर वो उस पर खुश रहते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया था और कहते कि हमें अल्लाह काफी है और अल्लाह अपने फजल से और उसके पैगंबर अपनी मेहरबानी से हमें फिर दे देंगे और हमें तो अल्लाह ही की रजा मतलूब है तो इनके हक में बेहतर होता सदाकत यानी जक़ात और खैरात तो मुफलिसों और नादारों और कारकुनान सदाकत का हक है और उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है और गुलामों के आजाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल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 बातिल में डूबे रहे ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं